वो अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं गैब और हाजिर को जानने वाला वही वसी रहमत वाला नहायत रहम वाला है